स्मृति के द्वारा जो निर्वृक्ष सिद्ध स्वरूप जो होगा उनको कहते हैं आत्मा ही सकल भूतों के रूप में अविद्या के वजह से भाषित परमार्थ तस्तु जानुनाथ ऐसा परमार्थ तस्तु जानत का जानने से तथा तस्वीर का उस काल में या उस उद्योग सन्यासी का आत्मा ने और वहां कक्ष होगा कैसे होगा शोक कैसे होगा शोक से मोहश्च काम कर्म बीजम तो भवती न तो आत्मिक विशुद्ध गगनम मम पश्यता शोक और मोह किसको होता है जो काम और कर्म का बीज भूता अज्ञान को ज्ञान को जो मेन चीज है अजानत बनने अज्ञान के कागज नाम और कर्म का बीज वो था तो ज्ञान के कारण से होता है न तो आत्म विशुद्धम जो विशुद्ध आत्म एकत्व है आकाश के व्यापक है उसका अभाव करते हुए व्यक्ति को नहीं हो इसका पूर्वोपनिषद तो है तो भाषण में अद्वितीय विशिष्ट छाम विजय के छोड़ दिया है कार्य काम कर्म का बीज है ज्ञान के वजह से शोक नहीं होता है और आत्मगत तो विशुद्ध जो आकाश के समान व्यापक को जानने से अनुभव करने से ये नहीं होता कौन मोह कहा शोक यदि शोक मोह अविद्या कार्य और आक्षेप असंभव क्योंकि जो है ओ मोह कहा शोक में कहा शुभ क्या है आक्षेप का वाचन हो सकता है शोक कैसे होगा भोग कैसे होगा मैं आक्षेप पूरा प्रसन्न करेंगे तथा का मतलब क्या है शोक और मोह दोनों दोनों अविद्या का कार्य है अविद्या कार्य है आक्षेप अपने शब्द आक्षेपाचक है आक्षेप अत्यंत शब्द प्रयोग करके दिखा वास्तव में ये दोनों आत्मा में असल असंभव सकाल संसार के लिए विच्छेदा प्रदर्शित इससे तात्पर्य हुआ कारण सहित अविद्या सहित संसार जो सुख महत्व संसार है इसका अत्यंत उच्छेद ही हो जाएगा जो सर्वमात्र भूत एकत्र हो जाएगा ये बात का करने के लिए नवरत आपका अनुवाद है भूत के कारण शिक्षक शुक्र था अवेद का जो हिजन हो जाता है उसको शिक्षक नहीं होता है वो प्रतिदिन व्यक्ति सुशक्ति में अनुभव करता ही है इस प्राप्त अनुभव का अनुवाद यहाँ पर भी किया गया इस प्रकार से जो आचार्य पद्धति है अध्यारोप हुआ निष्प्रपंचो यहाँ पर ईश्वर से लेकर सातवें मंत्र तक अध्यारोप किया अब उसके अपवाद वाला ये आत्मंत्र आत्मा मंत्र में भी पूर्वार्ध अपवाद है उत्तरा पुनरध्यारोप है पहला मंत्र में हुआ क्या था संक्षेप देख लो अभी तक जो हुए सातों मंत्रों का विषय पहला मंत्र में सर्वेश्वरत्व कथन किया ईशावास्य मंत्र इदम कर दूसरे मंत्र में कर्माधिकारी का दर्शन कर दिया पहला मंत्र में सर्वशित्रित का पूर्वक संन्यास का जो विधि और संन्यास का नियम विधि का कथन किया दूसरे में कर्माधिकारी का वर्णन तीसरा वह विद्या का स्तुत्व विद्या का स्तुति असल नाम चौथा और पांचवा आत्मस्वरूप का कथन है छठा और सातवां उसकी जो फलस्थिति है फलस्वरूप का कथन किया आप सब कथन पूर्वक ब्रह्म विद्या के फलस्वरूप का कथन ये सब उस आत्मा में जो भेद दिखाई देता हुआ उस विशिष्ट आत्मा के अंदर के वास्तविक स्वरूप का जो अध्ययन हुआ था वास्तविक स्वरूप का अध्यारोप आपने क्या वास्तविक स्वरूप अभी आपको पहले शुरू करना पड़ेगा ध्यान क्योंकि अनंत काल से इस अज्ञान के कारण ये दृढ़ हो गया मनुष्य वो दृढ़ ही दृढ़ नहीं हो पाता है लेकिन शुरू में तो आपको अभ्यास पूर्वक पकड़ना पड़ेगा इधर मनोग्रह को काफी दूर करते धीरे धीरे जब आप आत्मस्वरूप को प्राप्त कर जाएंगे तब तो मोह घर्षो तो ये जो अध्यारोप के द्वारा कथित वस्तु है तो उसका अपमान करे जा रहे सब पर शुद्धमता प्रसिद्धम जगती छंद मंदिर लंबा है सब रहेगा स्वात्मा परी अदा सर्वत्र गया हुआ है मेरे सर्वत्र व्यापक परिता आघात यदि मुझे सर्वत्र व्यापक है और कैसा है वो शुक्रम शुद्धम शुद्ध है शुद्ध है ज्योतिष्मान है दीप्तिमान है तो ये शुक्र शब्द का अर्थ होता है जग भी होता है कार ने जल अर्थ में लिया है शोक अर्थ में लिया है प्रकाश अर्थ में तीन लिया है तीन अर्थ कौन सा अर्थ लेना है तो भाषिका कहेंगे ज्योतिष में दीप्तिमान इत्यर्थ शुक्र दीप वाणी तस्व प्रकाश सर्वत्र व्यापक है लेकिन आकाश जीवन सर्वत्र व्यापक जड़ नहीं है आकाश तो सर्वत्र व्यापक है किंतु जड़ इन सब स्व अच्छा आत्मा वे व्यापक है परिणा आत्मा सर्वत्र व्यापक है ऐसे दम कोई कह सकता है चलो पूरी बात सर्वत्र व्यापक है इंद्र आकाश तो जड़ दीजिएगा जड़ तो प्रकाशमान कैसे शुक्रम ज्योतिमान प्रकाशमान है ज्योतिमान है अर्थात वह स्वप्रकाश है जो दिखाई दे रहे करके दिखाई दे रहा है अकायम सूक्ष्म अकायम में काय शब्द है सूक्ष्म नहीं सूक्ष्म शरीर नहीं अवरम अस्नाविरम ये दोनों बता रहे हैं स्थूल शरीर नहीं अवरम अस्नाविरम दोनों के जाने की दूसरे तो शरीर का विषय हो जाता है ऐसा है अस्नाविरम अप्रसिद्ध है ऐसे भी बहुत कोई चीज है जिनके अंदर नारियां होती है नाड़ियां होती है मुंह वगैरह है कान की नारियां होती तो है मत है कुर्बानी कोई नारी नहीं होता ऐसी तो बहुत सारी चीज है जिनके अंदर सुनावे नहीं होती तो ये उनको क्षति कर सकते हमारे नहीं कर जाएगा पानी पानी भरेगा इसलिए कभी आग्रह उनको लिया सुनावे वही तो थोड़े शरीर होगा पदार्थ प्रावधान से स्नाग्र सहित स्थूल शब्द दो प्रकार के हैं स्नाग्र सहित स्नागर रहित स्नागर रहित बोले आवरण क्योंकि वर्ण तो उधर होता ही है स्नागर हो या ना हो वर्ण तो होता है स्नागर वाले में तो वर्ण हो गए इसे दोनों को दोनों प्रकार के शरीरों का विषय करने के लिए दो शब्द देना पड़ा शुद्धम मैंने कहा शरीर शुद्ध है अज्ञान रूपी अशुद्धि नहीं है इसलिए शुद्ध है मेरे कारण शरीर नहीं जिसलिए वह सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर और कारण शरीर त्रिविध शरीर से नहीं होने के नाते वो अपाप भी शरीर के अभाव पाप अभाव है सारे करके आत्म जो कहा गया विशुद्ध रूप को लेकिन यदि जो नित्य मुक्त सर्वज्ञ ईश्वर ने क्या किया है कहते कि परिभू स्वयं शाश्वती शाश्वती नित्य सिख संवत्सर नामक प्रजापतियों के लिए शाश्वती समाधि में संवत्सर तो संवत्सर आदि संजत प्रजापतियों को नित्य सिख संवत्सर आदि नाम प्रजापतियों के लिए उसने क्या किया आधा संचित हो बृहस्पति को अपन काम देव सौंप दिया किसने वो कवि है कवि है का मतलब क्या कवि है सर्वद्रष्टा कभी सबसे कहेंगे तो सर्वद्रष्टा मनुष्य व सर्वज्ञ ये सर्वद्रष्टा ही नहीं सर्वज्ञ भी है सबको जानता भी सर्वश्रेष्ठ है और स्वयं स्वयं होने वाला है इससे पैदा हो हुआ उन्हें पूछेंगे ना उसको कौन पैदा किया उसका बाप कौन तो सूर्य की शादी में गड़बड़ी हो गई सूर्य की शादी होने लगी तो कन्या का तो ब्रह्मा जी थे उन्होंने पूछा भाई पिता जी का नाम क्या पूछने लगे सारा संसार का पानी पोषण लग रहा है मेरा बाप विष्णु है तो विष्णु का बाप कौन है तो आप ही तो है वो हम मेरा पिता कौन है तो वही तो है तो आप तो पिता है कौन है पूरा स्वयं है उसमें कौन बात तो यदि स्वयं भू कर गया स्वयं भू है वो उसने सारा गुण धारण कर दिया परी मन समानता अगात मने गतवान आकाश है व्यापी व्यापी नहीं व्यापी व्यापी आकाश व्यापी मन समीता में चारों तरफ ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं सभी तरफ वो गया हुआ अर्ध आकाश के समान व सर्वत्र व्यापक ये व्यापारिक स्वरूप यही है वो आकाश के समान सर्वोत्र व्यापक है और वो कैसा है व्यापक तो है उनका आकाश के समान आपने समझाने के लिए कह दिया तो संशय होगा जैसे आकाश जड़ है ऐसे ये भी जड़ होगा शुक्रम शुभ्रम शुभ्रम ज्योतिष्वत दीप्तिमान शुक्र का तो मतलब शुद्ध है शुद्ध का मतलब शुद्र है उसका मतलब ज्योतिष अर्थात दीप्तिमान आसमान अध्यावरण सभी भूतों में सभी भूतों का सब भूत ही इन स्थितियों में जो कहा हुआ वो जो शरीर आदि का क्या है फिर कथा क्योंकि वास्तव में है या नहीं वो कहते नहीं वो आरोप समझाने के लिए हमको कहना पड़ा इसलिए वास्तव में अकार्यम अशरीर कौन सा शरीर रहित है शरीर हमारे इनके बाद में सूर्य शरीर कारण से निषेध करने के लिए अलग शब्द आ रहे हैं अतएव यहाँ पर हमको सुख शरीर को लेना है लिंग शरीर और एनम अक्षम किसी भी प्रकार की भाव आदि क्षतियों से अर्थात इस आत्मा को कोई कान छाट करके घाव नहीं करना कर अर्थात आत्मा कोई शरीर वाला और सुनाए मैंने स्नावा शिराहा यस्मिन न विद्यंते स्नावा शिराहा यस्मिन न विद्यंते नारद शब्द कहा से आ गया अप्रसिद्ध तद स्वरूप प्रक्षारण धातु ले जाना स्नावयंती शरीरम की स्नावा नू से बनाया आनंद गिरी में टिप्पण में भी होगा स्नावयंती क्षरदी गतिकर्मा तदर्थ स्व धातु आनंद गिरी है स्वरूप प्रक्षारण धातु है स्नावयंती शरीरम स्नावा श्राप मैंने नारिया दात राम है दात करता बोलना पड़ेगा और कोई रास्ता है और तो अनेक दात को तो मिलिए तो मुख्य अर्थ बोलता है गत्या के अर्थ में उसको लेते हैं आप स्नावयंती गच्छन्ति अस्मिन स्नावा ऐसा आप ले रहे हैं तो भी तत्व तो विकर्मक हो जाएगा गौण कर्म रुचि कर्म होगा रुचि कर्म हो गया गुण इसमें जिसमें घूम रहा है तो गौर कर्म हो जाता है सब शरीर में जो प्रयोजन कर्म गौण मुख्य तो रखता ही धातु नित्य नित्य धातु इति अवगत स्पष्ट यह टिप्पण कर रहे मुख्य क्या है शरीर पर परंपरा ग्रहण किया अग्रहण अस्रावरण दो शब्द शरीर का निषेध करें आप राम शरीर का निषेध दोनों द्वारा उसी का प्रतिशत हो रहा है विचार करना पड़ेगा भाई क्यों किया वही बता स्नवीर रहित स्नायुर रहित जो शरीर है उनको आवरण से निषेध कर दिया स्नाव युक्त शरीरों को निषेध करने के लिए स्नावरण शब्द इसलिए टिप्पणी तो स्पष्ट है श्रद्धाम अगला शब्द आता है मंत्र में शुद्धम अविद्या मल रहितम विद्या अविद्या आरोप मल अर्थात कारण शरीर प्रतिषेध कारण शरीर प्रतिषेध अविद्यात्मक है कारण सूक्ष्म शरीर का निषेध कर दिया जिसके वजह से जिसमें विद्यमान इंद्रियों के कारण से हमें इस पूर्ण शरीर का अनुभव होता है अगर पहला सूक्ष्म शरीर जो सदर अनुभव का आधार है वो है सूक्ष्म शरीर तो उसको पहला निषेध करते हैं उस अनुभव जो सूर्य शरीर भान उसका चलना तो का निषेध किया और अंत में दोनों की अवस्थिति का कारण क्या है उस कारण शरीर को पहले कार्य कार्य में भी सूक्ष्म जो स्थूल का कारण था इसमें पहले उसके निषेध अनुभव कार्य बता फिर अनुभव कार्य स्थूल कार्य का निषेध और अंतर दोनों का मूल कारण होता अविद्या का निषेध जितनी वह शरीर त्रय से रहित है वो आत्मा आप सिद्ध नहीं है अपने पाप से पूर्ण के लिए इसलिए धर्म धर्म आदि पाप वर्गी धर्म अधर्म आदि शब्द ही पाप ही है धर्म में पाप ही माना जाता है दोष या पाप से तो लेना सामान्य दोष आत्मा में पुण्य माने का भी दोष आत्मा में पाप मानने भी दोष इसलिए पाप शब्द है वाचक क्या दोष फिर अपाप भी बने अदोष दोष सहित नहीं है और दोष क्या है ये पुण्य पाप ही दोष है जिसके व्यवसाय में शरीर प्राप्त हो रहा है बार बार और सारी चीजें को अनुभव करते रहते धर्माधर्म पाप धर्म धर्म आदि सगल प्रकार के पापों से ब्रह्म इत्यादि विचारसी लेकिन ये आश्चर्य की बात है सब अपने पुण्य से शुरू किया और सब आपको दिया तथायम अस्नाविरम शुद्धम अपाप विद्धम और शुरू किया स्वात्मा पुल्यम और आगे भी कबीर मनीषी परिपुरुष पुल्यम बीजों जन्म संग प्रयोग कर दिया गया है अगर एक ऐसा हो गया तो राष्ट्र समझाते हैं क्या संघर्ष को संघर्ष न्याय है ना जानते हैं संघर्ष न्याय को निर्माण करना है है संघर्ष में पकड़ बर्तन में पकड़ने के लिए आप पकड़ते हैं उसका नाम संदात नहीं महाराष्ट्र ऐसे संदात नहीं सोच कौन अंतर कर दिया दीर्घ रस कर दिया जो भी है जो भी भाषा में जो भी बोलते हैं अलग अलग भाषा में अलग जो बर्तन को पकड़ने के लिए साधन होता है दो तरफ से पौर हैं बीच में पड़ जाता है दोनों एक समान आकार का होता है और बीच में जो है दूसरी चीज को पकड़ता है तो वहां पर आया मिश्र वेदनांगम अब संग्रह में आता है प्रयास मानना चाहिए नहीं मानना चाहिए पूर्व और उत्तर में जो प्रयास संबंधी मंत्रों का प्रयोग हुआ है बीच में अचानक तो और असंबद्ध मंत्र के समान प्रयोग हो गया तो असंबद्ध मंत्र भी वास्तव में दोनों के बीच प्रयुक्त होने के कारण से उसको भी उसी का अंग मानना चाहिए कि का दर्शन का सिद्धांत है तो उसको संस्कृत में करते कहते हैं संदंशन न्याय संदर्शन क्योंकि यहाँ पर एक पहला पुल्लिंग है बाल पुलिंग है बीच में पुल्लिंग है या संघर्ष बन गया दोनों पुलिंग हो बीच में प्रधान अपने को भी इसे पुलिंग लेकर प्रणाम करके स्मरण कर शुक्र इत्यादि वचान से पुलिंग परिणयान शुक्र इत्यादि वचनों को पुलिंग पुनः अपने आप परिणाम कर लेना चाहिए हम सपरिवार प्रक्रम्य खरीद मनीषी इत्यादि ना पुलिंग संभाराट परिभाषा पुलिंग से आरम्भ किए और कभी में शिक्षा पुलिंग के द्वारा ही अनुसंधान हो रहा है इसलिए विश्व पद पुलिंग को भी जो स्त्रीलिंग आयोजन कोशिंग लगोचन कोई भी लिंग आता हो तो उनको परिणाम करके पुलिंग के रूप में ग्रहण करना चाहिए और व्यक्ति गौरव में सब गड़बड़ी कर रखा है ये सूत्र है गौरव कोई ऐसा व्यवस्था नहीं रहता है व्यक्ति हो जाता है लिंग व्यक्ति वचन व्यक्ति ऋषि व्यक्ति सब प्रकार के व्यक्ति कर देता है तो जहाँ मंत्र में जैसा दिखाई दिया वैसे हो गया है उसका शुद्ध करें व्यवस्था दे दिया का मतलब क्या क्रांतदर्शी सर्वदृक कई शब्द दो धातु से बन सकता है उस शब्द कवती इति कवि नीचे है टिप्पणी में आठ नंबर टिप्पणी और तो क्रम उपाय इसे क्रांत दर्शन भगवती कवती वाह इतनी जो भाष्य क्रामद प्रमोदया रूप रूपम स्कंद स्वामी निरुक्त टीकाकार स्कंद स्वामी उन्होंने लिखा है सूत्र के ऊपर निरुक्त बारह श्लोक में आया थोड़ा पर कि करामत कवते वा कर्मोपाल विक्षते अथवा कुछ शब्द कोई भी धातु से हम जो है गति कर्म है उसे ऐसे धातु से हम बना सकते हैं क्या लेकिन गति का गत्या जितने भी धातु होते हैं उनका सामने से क्या नियम है हाँ, जबकि प्राप्त तीन सामान्य रूप से जितने भी गत्य धातु हैं तो तीन अर्थ के वाचक होते हैं गति जबकि विद्यान और प्राप्त गत्यर्थवा जबकि गति जमे गति जबकि प्राप्तवा गत्यर्थवा गति यज्ञ प्राप्त कर चुका जितने भी गति कर होते हैं तो तीन अर्थ में प्रयोग होती है गति यज्ञ ज्ञान और प्राप्ति प्राप्त कर प्राप्त प्राप्ति तीन अर्थ और क्री क्रिया सामान्य वाचक ये भी है क्री भू और रस ये तीनों घात हमेशा भी क्रिया सामान्य के वाचक में करते हैं यमावासी के वचनों को हमेशा याद रखनी चाहिए बहुत कामयाब करता है कभी कवि क्रांत भविष्य मैंने वर्तमान काल में हम लोगों का ज्ञान क्या है जो कुछ वर्तमान में इसी को हम जानते हैं हमें ये नहीं पता है भाई पिछले जन्म में क्या थे दसवीं जन्म मेरे क्या था क्या नहीं था या हजार साल मेरे क्या हुआ क्या नहीं हुआ क्योंकि इतिहास की पुस्तक पढ़ करके थोड़ा बहुत जाने भले हम जान लेते हैं वही पुस्तक का नहीं होता वैसे तो वर्तमान का अतिक्रमण करके उनके भविष्य को जानने के सामर्थ्य वाले का नाम क्रांति अतिक्रमण करके जानने वाला देखने वाला समझने वाला उसका नाम क्रांति इधर क्रांतदर्शी अर्थात सर्वविक प्रकार सगल वस्तुओं को जान देखने वाला है अनुभव करने वाला है इसलिए क्रांतदर्शी का अर्थवास कर लेते हैं सर्वे सर्वदृष्टा बाह्य तो अस्थि दृष्टा के शब्द है क्योंकि जो आत्मा है वह सर्वदृष्ट इसलिए है क्योंकि उस आत्मा से अन्य कोई दृष्टा नाम का चीज संसार में है ही क्योंकि आत्मा से ही प्रकाश से प्रकाशित होते हैं आत्मा ही प्रति प्रकाश के द्वारा ही सकल इंद्रिया आदि शाब्दी वस्तुओं को प्रकाशन करने में समर्थ होते इसलिए इंद्रियों के द्वारा जो प्रकाशन हो रहा है वो आत्मा के प्रकाश के द्वारा होने के नाते आत्मा ही सभी का दृष्टा वास्तविक है इत्यादि शब्द है मृगालय परिषद तीन आठ मनीषी मनीषी शब्द क्या कहते हैं मनसा ईशिता मनसा मन का जो है ईशान करने वाला ईशा ईश धातु तीन अर्थ में ईश धातु गति हिंसा दर्शनीशु गति दर्शन ईशो तीनों क्या पर बता रहे देखो पहला सर्वज्ञ सर्वज्ञ गति का पर्यायवाची ज्ञान को लेकर के तालाब को लेकर बोल दिया गति गति और हिंसा और दर्शन तीन अर्थ उनमें से सर्वज्ञ ये दर्शन को लेकर दर्शन सर्व दर्शन से अगर ज्ञान अनुभव तो इसलिए पहला जो सर्वज्ञ अर्थ किया ईशिता का ईशिता का अर्थ कर रहे हैं सर्वज्ञ मैंने दर्शन वाला अर्थ को लेकर और बाकी के अर्थ को लेकर ईश्वर बाकी का अर्थ गति और क्योंकि जो मन के गमन गमन कराने वाला है मनाली सकल इंद्रियों की गमयिता है प्रेरक वो ईश्वरी है निर्वाचार बीते ये बीते केवल कृष्ण विशाल बता चुका है कि जो इंद्रियों से जो प्रेरणा का स्रोत वो आत्मा ही है इसलिए गमयिता है गति से हम के लिए यहाँ गमयिता है इसलिए वो ईश्वर है और हिंसक भी है हिंसा का था निरोधाच इनको निरोध करने वाला भी है दोनों ही हिंसा क्या था ना निरोध करना निरोध क्या कर रखा है विषयों में इसलिए आया ना परांची खानी वितरण स्वयं परांची खानी वितरण स्वयं वो जो स्वयं ने क्या कर रखा है इन इंद्रियों को हिंसित कर मतलब क्या हिंसा कर भैया पराम पश्यति नाम इतने बाहरी दिखते अंदर देखते ही यही हिंसा कुछ नहीं कोई मर्डर भी हो रहा है ईश्वर के इंद्रियों को मर्डर थोड़ी कर रहा है जिंदा कर रहा है जिंदा कर रखा है लेकिन यही यहाँ पर हिंसा है कि वो आत्माओं को देख रहा है चाहे नहीं देख सकता वो बाहरी देखते हैं ऐसे आदत डाल दिया तो बाहर ही देखते हैं में बैठे हुए रहते हैं तब वे बाहर की चिंतन चलते बाहर की चिंतन बाहर की मन का ऐसे अभ्यास बना यही हिंसा कुछ नहीं है इसलिए अगर कहते देना अर्थ घट जाएगा वो ईश्वर के लिए काम स्वयं भू का ही काम होता है मन के ऊपर मन का भी जो विचार है मन के जो सूक्ष्म तरंगे हैं उनको भी देखने वाला जानने वाला वह सर्वज्ञ को ही मनीषा करते हैं और इस मन को और इन मन के माध्यम से सकल इंद्रियों को जो प्रवृत्त कराने वाला होने से भी यह ईश्वर और मन को बहिर्मुखी बनाकर हिंसित करने वाला होने से भी ईश्वर परि सर्वेशम परिमय उपरी भगत इति परी हो करेगा आपने तो परिकार के समंता सपरिगात परिकार परिता सर्वता समंता विचार करते हो यही भी हमें सुनने में मिला है आप यहाँ कहा चला ऊपरी सर्वेशा ऊपरी सबसे करे अख्तियार कैसे निकाल दिया आपने कहते हैं भाई जितने भी निपात तो होते हैं उनका कोई अर्थ तो है विद्योतक वाचक नहीं होते निपात जितने भी हैं ये वाचक नहीं होती है विद्योतक इसलिए प्रसंग प्रकरण आदि के अधीन होकर अर्थ निश्चित कर लिया गया किस चीज किस अर्थ के प्रकाशन कर रहा है किस अर्थ के द्योतन कर रहा है इसको हम अपने आप जो जानना पड़ेगा प्रकरण आदि के आधार है इस प्रकरण के अनुसार लगता है परिभू का समझना पड़ेगा सर्वेशा उपरी भरती सर्वेशा परिभू उपरी भरती सर्वेशा उपरी कैसे हो गया सर्वेशा मिश्रित कर रहे हैं वो हिरण्य गर्भ गई थी जब पहले हिरण्य गर्भ बताया गया था उस हिरण्य गर्भ से भी करे मन उसका भी कारण उसका भी अधिष्ठान ही इसलिए उससे भी ऊपर है आकाश में सर्वत्र है लेकिन कहानी के लिए बताने के लिए वो देखो नील गगन में उतर दिखता है ध्यान में क्या आकाश अभी तो है आकाश लेकिन आपसे पूछा जा रहा है बच्चे कोई पूछता आकाश कहाँ है हर जगह उतर गए तो नील गगन वो आकाश जी हमने ये सब आकाश को नहीं बोला समझाने में सुविधा है सरलता पूर्वक बच्चा समझ लेता है इसी प्रकार से भगवती श्रुति जो है यहाँ पर कृपा करती है हम लोग अज्ञानी के बच्चों को समझाने के लिए कह रही है तो हिरण्य गर्भ की दिन पूरी है हिरण्य के रूप में स्वयं भगवती थी स्वयं भगवती थी ये स्वयं भगवती यक्ष परिवर्तन उसका विस्तार कर दिया ये स्वयं उपरि यक्ष उपरिभव सर्व स्वयं भगवती जिनके ऊपर और जिससे ऊपर उन सब से वह सब स्वयं ही हो गया है इसलिए उसका नाम स्वयं छह और के पद में स्पष्ट करते देखो कीर योगी प्रजापत्यादि नाम ये क्षमता ऐसा मैंने प्रजापत्यादि और अंग मैंने विराट और विराट के अधीन वाले ईशान सा है ना विराट और विराट के नीचे सारे के सारे बन गए और उसके ऊपर कौन रह गया सूक्ष्म रह गया तो उसको ले लेना यश्च देखा आगे लिख रहे यश्च भी और उसका जो कारण से कौन पीछे आगे है पीछे दो रह गए सूक्ष्म और कारण से समष्टि में समष्टि में सूक्ष्म है धर्म गर्भ कारण है ईश्वर उन दोनों को लेना यश्च और एग्जाम से उसका स्थूल है विराट और वहां से बीच वृष्टि पर इसलिए ऊपरी यश्चोपरी भवती स सर्व स्वयं भवती स्वयं तो सब कुछ स्वयं ही हुआ है इसलिए उसका नाम स्वयं भूमि सनित रूप ईश्वर यथातथ सर्वे यथा तथा भवो यथा अनित्य मुक्ति ईश्वर इसका तात्पर्य क्या होगा सब प्रकार से शरीर ही निर्भाविक होता है और स्वपालिक के समान भान कबीर मनीष से पूर्वक शुद्धम अपाप विध्वम तक निर्भाविक सब का वर्णन किया फिर कबीर मनीष से क्या है दोबारा अध्यारोप कर पहला अध्यारोप से शुरू किया इसी तरफ से और फिर सात मंत्र तक अध्यारों का और बीच में एक एक मंत्र छोड़ दो कर्माधिकारी का वर्णन किया जो संन्यास के अधिकारी नहीं है तो क्या करें वो बता दिया तो उस दूसरे नंबर को छोड़ करके एक से लेकर बाकी सात तक के जितने मंत्र है वो सब अध्यारों पर थे और बीच आठवें मंत्र का जो पूर्वार्ध है ये जो है अपवाद अध्यारोप अपवाद अभियान निष्प्रबंधन प्रबंधक है चरितार्थ कर दिया लेकिन ऐसी वस्तु यदि है वो तो फिर उसने सारी व्यवस्था कैसे संभाला क्योंकि बीच आपने कहा था तो उसी का भय जो सारे चल रहे हैं ये है वो है ये कैसे रहूंगा तब उसके लिए बेगरा देना तो कली भी है मनुष्य भी है कभी भी है स्वर्ण भी है ये सब कहेंगे फिर आधारक हो गया ये तो करने का लाभ क्या फल क्या तो कार्य बता क्या था उसको समझा इसलिए उस अध्यारोप का निष्कर्ष निकलता है उस जगत की व्यवस्था बन जाती है जिसको जगत दिखाई दे रहा है उस व्यक्ति को जगत की व्यवस्था देने के लिए हमें शुद्ध ब्रह्म अध्यारोप करना पड़ता है मतलब वास्तव में ब्रह्म किसी चीज का आरोप प्रतीक्षा नहीं है उसको समझने की भी जरूरत नहीं जिसको द्वैत किंचित द्वैतम युवा भी भगवती तो चेक है द्वैत के समान में किसी को किसी भी काल में किसी भी क्षण में अनुभव में आता हो उस व्यक्ति के लिए कहा जा रहा है सौनित्य मुक्त ईश्वर हो या कहा वह नित्य मुक्त ईश्वर जो है सर्वज्ञ होने से यथात तो भाव या था करो पर साधन को अर्थान कर्तव्य अर्थान गंधा अर्थ क्या है जिस इसलिए वो यथाभूत कर्म फल साधन तो जिस व्यक्ति जिस जीवन में हिरण्य गर्भ ईश्वर से लेकर हिरण्य गर्भ से लेकर प्रजापति से लेकर जितने भी लोग हैं ऊपर से नीचे तक सकल जीवन को उनका अपना अपना जो ड्यूटी दिया गया है वो अपने अपने कर्म के अनुसार स्वयं देखो आएगा वो कथा परिषद में यमराज जी कहते हैं मैं जानता था जानते भी पूरा अपनी वासनाओं से मैंने इस यम पद प्राप्त करने का कर्म किया है इसलिए मेरा ब्रह्मज्ञान है आज लेकिन फिर भी मैं इस यम पद को त्याग के भाग नहीं सकता क्योंकि जो है प्रारंभ कर्म बन गया इसके लायक मैंने कर्म कर दिया था और उस कर्म फल भोग करने के लिए भगवान ने मेरे को लगा दिया जो ब्रह्मज्ञानी होगा वही देवता बनेगा ना तभी और सही ढंग से काम भी कर सकता वो उसके कोई ये हो है आज हमरा जी की पूजा कर लग जाए और दो चार साल और ज्यादा आयु दे दी तो भाई हमारे लिए बहुत अच्छा करारा है पानी गिरा है चलो इसको थोड़ा हम ज्यादा जिंदा रखेंगे हो जाएगा लेकिन नहीं वो हमरा जी तो कर नहीं सकते क्योंकि इनकी बात सुनिए